और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो हालांकि उसने तो मुझे हिदायत अता फरमाई है और मैं उनसे नहीं डरता जिन्हें तुम उसका शरीक ठहराते हो मगर मेरा रब ही कुछ नुकसान चाहे तो पहुंचा सकता है मेरा रब अपने इल्म से हर चीज का इहाता किए हुए है तो क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते